चितो शुभो ये तान पुरुष पृथक पृथक उत्पादित इत्यादि होगा कचरे का चिरात्मक पुरुष से चिरात्मक जो पुरुष है चेतो रूपा ये चित्र विजीव जीव क्या है चेतनी रूप है कैसे जलार जलार्ग समाह जल में प्रतिबिंबित सूर्यों के समान है बिना उपायों का वह आत्मा भी जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकता जो विशुद्ध आत्मा है उसकी उत्पत्ति कैसे होगी कोई चीज की उपाधियों में प्रतिबिंब पड़ना ही उसकी उत्पत्ति और कुछ नहीं जीवोत्पत्ति केवल उपाधियों में प्रतिबिंब पड़ना जैसे सूर्य सूर्य की हजारों सूर्य उत्पन्न हो गए कैसे उत्पन्न हो जाएंगे हजारों उपाधियों में इसलिए दृष्टान रहे जलार्ग समाह कौन है वो कहा के से विश्व भेदे नही सकल योनियों में ऐसा है देव त्रिगादि देव वेदेश उपाधिया इन्हीं उपाधियों में पढ़ा हुआ प्रतिबिंब को विश्व तेज प्राज्ञ नाम से कह रहे विभाग माना चितोरूपा चेतो अंश भाषित होता हुआ चैतन्यत्मक जो अंशु के समान अंशु जीव जो है वे ये जो अनु होते हैं तान उनको उन चेतो अंशून पुरुष प्रत्येक विषय भाग विलक्षण अग्नि विस्फुलिंग संरक्षणान जलार्कवच्च जीव लक्षण कहते कि वे को जनित के साथ पूर्वान में सर्वम जनित प्राण है ना वो जनित ज्ञान में कर लेना कैसे को उत्पन्न करता है पृथक विषय भाव विलक्षणान सबका अपना अपना विषय भाव अलग अलग है प्रत्येक शरीर में और ऐसे प्रत्येक योनियों में विद्यमान प्रत्येक जीव का अपना जो है बंधन का कारणीभूत विषय भाव एक से एक विलक्षण है इसलिए कहते हैं संरक्षण के दृष्टान अग्नि विस्फुलिंगवत अग्नि विस्फुलिंग के समस्त अलक्षण ही है लेकिन ये नाम समझो कि विलक्षण है तो फिर जड़ हो गए चेतन से जड़ा हो गए ऐसी बात नहीं ये जड़ नहीं होंगे किंच संरक्षणता यही तो कार्य है कार्य का मतलब ये कुछ विलक्षणता कुछ संरक्षणता विलक्षणता क्या है संरक्षणता क्या है ये निर्णय होगा कार्य को देख करके जन्म नहीं होगा अग्नि स्फुलन के समान जैसा अग्नि है जिस प्रकार के दाहकत्व आयु उसके अंदर है उतना इस स्फुलिंग में नहीं होगा संरक्षण जलाने का स्वभाव तो उसका भी रहेगा इधर भी नहीं है इसलिए कहते हैं संरक्षण के दृष्टान जलार कवच जीव लक्षण जल में प्रतिबिंब सूर्य के समान जीव नाम से संरक्षण भी है ये चेतनता भी इंद्र के अंदर है इतरान सर्वभावन प्राणो जाता इन सबको जीव लक्षण पुरुष जनयति आगे दे रहा है और इनसे जो भिन्न है जीव लक्षण से जो भिन्न इतरान उनको ऐसे जो सर्वभावान प्राणो बीजात जनयति उनको प्राण जो है बीज रूपा व्याकृत आत्मा वो उत्पन्न करता है पुरुष जीव लक्षण को उत्पन्न करता है और इतरों को प्राण उत्पन्न करता है यथा उर्णनाभि जैसे उर्णनाभि होता है वैसे ही और यथा अग्नि एक शूद्र में इत्यादि श्रुते है दोनों ने दृष्टान दे दिया कभी चेतना चेतना आप तो जो जगत की सृष्टि आपने जो है प्राण और पुरुष से उत्पन्न कह दिए लेकिन इस बात को तो सभी मानते नहीं आप परमार्थ का चिंतन करते हुए बात कह रहे हैं क्योंकि आगे में आपको इन समस्त चीजों की मिथ्या सिद्ध करना है आप परमार्थ चिंतक हैं आप तो ऐसा कहा देते हो लेकिन जो सृष्टि चिंतक है जो कार्य चिंतक है अनेक अन्य अन्य चिंतन करने वाले लोग हैं वही उनके लिए मुख्य है वो लोग तो इस बात को नहीं मानते हैं जैसे कौन कौन है क्या क्या है वो विबोधिम प्रसवंतन्य मनते सृष्टि चिंतका स्वप्रमाया स्वरूपेती सृष्टिर निर्विकल्पिता विभूति प्रसवन तन्य दूसरों का कहना है तो ईश्वर की विभूति से सब पैदा हो गया सृष्टि का ही स्वरूप का चिंतन करने वाले सृष्टि चिंतक का विशेष रूप से कुछ पौराणिक लोगों में यह मान्यता है कि ये सारी की सारी की जो प्रसवम कहा हुई विभूतिम अन्य मन्यंत ईश्वर का जो विभूति से सब पैदा हो गया वो अपने मर्जी से पैदा कर देता है उसका अपना ऐश्वरी है कहा भी ना ये ऐश्वरम रूपम योगम पश्चिम योगम ऐश्वरम कहा भी है स्मृतियों में उनको लेकर के लोग बोल रहे हैं और दूसरे लोग कहते नहीं ना ही ऐसा कैसे होगा ये स्वप्न के समान सब उत्पन्न है अर्थात अन्यत्र सत्य जगत है आपका बात आ गए ये स्वप्न के समान है स्वप्न के समान का मतलब जागृत सत्य है सत्य जागृत के आधार पर मिथ्या स्वप्न है ना उसके समान अन्यत्र सत्य जगत के आधार पर यह हम इत्याचक व्याख्या कर रहे हो तो अन्यत्र सत्य जगत स्वीकार आपको करना पड़ जाएगा ये भी वेदांत विरोधी है अथवा माया स्वरूपा प्रकृति है सत्य रजा तम सत्य प्रकृति से सत्य जगत उत्पन्न हुआ है ऐसे भी अन्य ही विकल्पिता अन्य लोगों के द्वारा यह भी विकल्पित है विभूति विस्तारा ईश्वर सृष्टि विभूति मैंने विस्तार किसका विभूति विस्तार हुआ है कभी ईश्वर से विभूति विस्तार रहा सृष्टि ईश्वर की विभूति का ही विस्तार है ये सृष्टि इसे सृष्टि चिंतक मन्यंत न तो परमार्थ चिंतका नाम सृष्टो आदरा लेकिन परमार्थ जो चिंतक होते हैं उनका सृष्टि में कोई आदर नहीं होता ये सृष्टि चिंतक है सृष्टि को सत्य मान करके वो लगे हुए हैं तो भाई जिसको सत्य मान के चल रहे हो तो उसी हिसाब से सब व्याख्या करोगे यह परमार्थ चिंतक जो होते हैं वो सृष्टि में इस प्रकार का आदर नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए जिस ईश्वर का विभूति तुम मान रहे हो वह ईश्वर ही मिथ्या है तो क्या कर लोगे वह ईश्वर भी स्वपारिक वस्तु है ना लेकिन उसकी विभूति भी स्वपारिक हो गया इसे निरुपारिक जो पारमार्थिक वस्तु का दृष्टिकोण से वह भी मिथ्या होने के नाते उस जगत को सत्य मानना उचित है अभी पारमार्थिक चिंतक लोग इस एकादशी सृष्टि में भी आदर नहीं कर सकते इसमें प्रमाण क्या है लेकिन ईश्वर का ईश्वरी कहने में इंद्र माया भी पुरूप श्रुते है इंद्र मैंने जो ईश्वर है वह अपनी माया में सत्वरजतम गुणात्मक शक्तियों के द्वारा बहु रूप यते बहुत रूपेण प्रकट कर देता है उत्पन्न कर देता है संकल्प मात्र से तब तो सिद्धांति कहेगा भाई आपने जब माया भी कह दिया ये स्वदर्शित कर रहा है ना वो ईश्वर सत्य ना वो माया सत्य कैसे कहते कि देख लो दृष्टांत हम सबको समझाएंगे एक बार एक राजा था वो राजा माया देखने बड़ा आनंद आता था उसको जो भी माया दिखावे और माया अरे मैं तो पहले से देखा इसको मैं पहले से ही देखा हूँ अरे माया भी आया उसने देखा कि उसको ऐसी माया दिखाएंगे ये फिर कहेगा हाथ पर पकड़ के जोड़ करके भैया तू ले जा पांच हजार रुपया छुपिन छोड़ मेरा तो ऐसे काम करना पड़ेगा और आगे बैठ गया कहा कि महाराज हम माया दिखाना चाहते हैं दिखाओ भाई अरे रस्सी मंगाओ रस्सी मंगाया अब उसने जो है क्या मंत्र पढ़ा और रस्सी को योग कर फेंगा सीधा रस्सी सीधी खड़ी हो गई हाथ में ही रस्सी है गोल लपेटा हुआ पड़ा है दिखाई क्या दे रहा है सबको सीधी रस्सी खड़ी हो और वहां से दूत आ रहा है सीधी रस्सी से देवताओं की ओर से और राजा को कह रहा है महाराज अपनी सेना को लेकर पधारिये कि जो वहाँ देवता लोग संकट में पड़े हुए हैं और असुर लोग परेशान कर रहे हैं आपका देवताओं ने स्मरण किया है राजा कहता अच्छा चला अभी और राजा वहीं बैठा हुआ है और जा भी रहा है मतलब बैठे हुए था कैसे लगता है और मूर्ख वैसे सोच रहे वही दिखाई दिया उसको वैसे ही वो सेना के साथ राजा चला गया कान छान रुई हाउ खुद ही मर गया और जाहिर से गिर पड़ा अब जब तो वो क्या है कुछ नहीं वो जो तो हमारा बैठे है रस्सी हुई हाथ में कुछ नहीं कौन सत्य है इसमें युद्ध सत्य है रस्सी सत्य है राजा सत्य है वो सत्य है उसे जाना सत्य कि वहां बैठे रहना सत्य है कि क्या सत्य है कहते वही नहीं माया विनम सूत्रम आकाशीन निक्षिप्य मायाविनम सूत्र मायावी के द्वारा एक सूत्र रस्सी को आकाश में निक्षिप्त कर दिया गया तेना सायुधम आरोह और उसी रस्सी के माध्यम से सीढ़ी जैसे हो गया रस्सी और धड़ाधड़ चढ़ते हुए जो है आयुध आदि के सहित ऊपर चढ़ के स्वर्गलोक में चला गया चक्ष गोचरता मतित्या और कैसा हो गया स्वर्ग में चला गया अब चक्ष से कैसे दिखाई दोगे क्या सुनाई दे रहा है बड़ा युद्ध लड़ाई लड़ रही बम फूट धाड़ धूड़ हो रहा है आवाज सुनाई दे रहा है महाभारत की जैसी लड़ाई की आवाज सुनाई दे रही है दिखाई कुछ नहीं दे रहा चक्ष गोचरता मतीत्या युद्धे न खंड से छिन्नम पतितम पुनरुत्थित पश्यताम वहां पर क्या हुआ युद्ध के द्वारा खंड से छिन्नम पतितम और फिर ये कैसा हो गया पुनरुत्थित पश्यदाम ऐसे तो देखता हुआ राजा सारे मंत्री देख रहे खेल को तत्कृतम भी सतत चिंतायाम हो नहीं भगवती नहीं को जोड़ना पूर्व से ऐसे जो माया आदि का सतत चिंतन करके देखोगे क्या उसे कोई आदर करेगा उसकी यथार्थता को स्वीकार कर सकता है क्या कोई क्या वास्तव में ऐसी कोई घटना हुई है नहीं जिस प्रकार से सतत्व मायावी का माया को जानने वाला व्यक्ति उस उनमें से किसी भी चीज को सत्य करके नहीं मानता आदर नहीं करता उसी प्रकार से पारमार्थिक चिंतक जो होते हैं वे भी उसको सत्य करके कभी नहीं आदर कर सकते तथा अयम मायावी उसी पर ये जो इंद्र रूपी तुमने मायावी का है ये भी वैसा ही मायावी है इंद्र ईश्वर भी सूत्र प्रसारण सलाह सूत्र का रस्सी का फेंकना उसी के समान है ये जागरण स्वप्न सुषुप्त सुषुप्त स्वप्न आदि विकास तद आरूढ़ माया भी समस्त उसमें आरूढ़ हो गया राजा माया भी सब अस्त्र शस्त्र लेकर गए ना इधर से आप भी क्या है जागर सब सुषुप्ति में आरूढ़ हो रहे हैं और अपने साथ क्या मान रहे हैं हमारी पत्नी हमारे बाल है हमारे बच्चे सब कुछ कहा मान रहे जैसे उसने रस्सी पर चढ़ा और सबको चढ़ाते हुए ले गया ऐसे आप भी जो है इस जागृत रूपी माया की फेंका उस रस्सी पर चढ़ करके अपने सारे साथ में जाने वाले समझ रहे हो कोई किसी के साथ ना आया है ना जाएगा इन्हें मान के चल रहे हम वही कहते हैं सुप्त स्वप्राणी विकास वो सूत्र का प्रसारण है और उसी में आरूढ़ होकर माया का मायाविका के समान यहाँ पर प्राग्ञ तेजसादी सूत्र तदारूढ़ाभ्याम अन्य परमार्थ मायावी उसी प्रकार से प्राग तेज सारी समझो और सूत्र तुझारूढ़ाभ्यम अन्य लेकिन वास्तविक मायावी कहा बैठा हुआ है न सूत्र पर चढ़ा है वह न सूत्र बनाया न कुछ हुआ वो तो अलग बैठा हुआ है जिस प्रकार से वहाँ असली जो मायावी था मंत्र से सब दिखाने वाला वो अलग ही है न सूत्र है वो न सूत्र पर आरूढ़ है वो न गया न आया न मरा न जगा न कुछ हुआ है वो जो है वो इन सबसे अलग पारमार्थिक माने सत्य माया भी है वो इन सभी दृष्टि दृष्टिकोण से वो सत्य कि सारी कल्पनाओं का अधिष्ठान वो है उसका संकल्प है उसी प्रकार से सारे जगत रूपी माया का भी अधिष्ठान कुछ न कुछ सत्य मानना पड़ेगा जो इन सब से भिन्न है सएव भूमिष्ठो माया छन्नो अदृश्यमान एवं स्थित हो वो जो मायावी है वो उसी धरती पर बैठा हुआ है न स्वर्ग गया न कहीं आया गया माया से ढका हुआ है वो अपनी एक डाल फेंक दिया जैसे आजकल मैं क्या लकड़ी लेते हैं और मंडूक वसांजन लगा देते हैं मंडूक है ना मेढक उसकी चमड़ों से बनाते एक अंजन वो अंजन को लकड़ी के किनारे में लगा दिया होता है मंत्र सिद्ध भी कर देते उसको फिर उसको यहाँ घुमा देगा आपके सामने बस शुरू में इंट्रोडक्शन यही करता है ना वो इसको तो इंट्रोडक्शन करना करते क्या करता है वो यही झंडा दिया घूमते रहता है आपके सामने बातें करते रहता है बोलते रहता है मैं ये दिखा दूंगा वो दिखा दूंगा देखते रहना देखते रहना बस बाद में डंडा किनारा कर दिया और आप वो बोलते जाते हो आप देखते जाते वो केवल बोलते ही रहता कुछ करता है नहीं और आपको सारी दिखाई देती है उसी प्रकार यहाँ पर भी एक कहते हैं कहते हैं माया छन्नो अदृश्यमान ये स्थित इसे बाकी लोगों के लिए क्या है अदृश्यमान होकर स्थित है यथा तथा तुरिया के हम परमार्थ ठीक उसी प्रकार से हम सब के लिए अदृश्यमान होकर स्थित के वह परमार्थ तत्व है जिसमें माया से वो अच्छन है और वो माया सारा लीला करके दिखा रही है हम कह रहे हैं कि वो परमात्मा ही दिखा रहा है ये भ्रांति है अतः चिंतायाम एव आदर नाम आर्याणाम न निष्प्रयोजन सृष्ट आदर इसलिए तारस जो पारमार्थिक तत्व जो ब्रह्म है उसी का चिंतन में मुमुक्षों को और आर्यों को अवश्य आदर करनी चाहिए न निष्प्रयोजनायाम सृष्ट आदर निष्प्रयोजन भूता इस सृष्टि में उन्हें आदर नहीं करनी चाहिए इत्यतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या लिखा था सृष्टि चिंतका सृष्टि चिंतक का नाम ये विकल्प सृष्टि चिंतकों के अंदर ही एतादृशी विकल्प हो सकता है परमार्थ चिंतकों में कोई विकल्प ही नहीं है इत्या इसी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वप्न माया स्वरूप स्वप्न स्वरूप माया स्वरूप अच्छा अरे आप तो माया रूप मानते हैं ये कैसे विधान विरोधी हो गए जहाँ टीकाकार करते इसलिए देखो गता नाम अर्था नाम एवं स्वप्न प्रथन सत्यत्व क्या है स्वप्न समान मानने वालों का कथन भी ठीक नहीं क्योंकि जो है स्वप्न समान मानने वाले लोग जागृत कालीन वस्तुओं को सत्य मान रहे हैं वो सत्य वस्तु क्या है स्वाप्य पदार्थ मिथ्या मानते हैं इसी प्रकार से आपको मानना पड़ेगा अन्यत्र कोई इस जगत से भिन्न ये मिथ्या जगत से भिन्न कोई अन्यत्र सत्य जगत है जिसका संस्कार को लेकर मैं यहाँ मिथ्या जगत को देख रहा हूँ ऐसा मानना पड़ेगा इसे स्वप्रवध मानने वाले भी गलत है स्वप्न स्वरूप ना सत्यत्म जागृत गता नाम अर्था नाम सत्यत्म स्वप्न प्रतना के स्वप्न होने का विस्तार हुआ है इसीलिए उनकी सत्यता आपको माननी पड़ेगी तब जगह स्वप्न पदार्थ के मिथ्या सिद्ध होगा ये भी मत इसलिए ठीक नहीं है और माया मनिया लक्षण आया सत्य अंगीकाराद अन्योर विकल्प सिद्धांत वैषम्यम उन्नीयम मंड माया को भी इसी प्रकार से मंड आदि रूपा जो माया है उस माया को सत्य तुंगीकारा सत्य स्वीकार कर दे और वो इष्ट में नहीं है अतएव दोनों ही पक्ष दोनों विकल्प जो है ना सिद्धांत विरोधी विकल्प होने से इन दोनों को हमने सृष्टि चिंतक कोटि में ही रखा है इच्छा मात्र प्रभो सृष्टि यदि सृष्टो विनिश्चिता काला प्रसूति भूताना मनते काल चिंतका पहले ही सृष्टि चिंतकों के कार विकल्प है सृष्टि चिंतक में तीन हो गए एक चौथा ला रहे पहला वाला विभूति माना दूसरा स्वप्र ईश्वर का स्वप्न के समान ये भी है माना और तीसरा ईश्वर की माया रूप है मान लिया और चौथा ईश्वर का इच्छा मात्र है प्रभो इच्छा मात्र सृष्टि ही इति सृष्टो विनिश्चिता इस प्रकार से सृष्टि के बारे में सृष्टि चिंतक विनिश्चित सृष्टि चिंतकों ने चार विकल्पों का निश्चय कर बैठे हुए हैं और खुद ही वो चार कर बैठे बताओ कौन सा सही होगा और स्वतः ही वो मिथ्यात्व के लिए बीज बो दिया है अरे सृष्टि चिंतक हो ये सिद्धांत तो दो स्वयं आप खुद ही चार सिद्धांत दे रहे हो इसको तो एक भी सही नहीं होगा एक से दूसरा गलत उसी से पहला गलत है परस्पर सब गलत हो जाएंगे और काल चिंतक लोग कहते नहीं नहीं है ईश्वर ईश्वर भी ईश्वर भी कालाधीन है ईश्वर भी कालाधी नहीं है अतएव काल चिंतक कहते काला प्रसूति भूदान मनंद ईश्वर की अपनी मर्जी से सृष्टि थोड़े कर सकता है वो भी काल की जो है प्रतीक्षा करता है पुराण आदि में तो है ना वो नारायण भगवान लेटे पड़े काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं और सृष्टि का काल जैसे आया सृष्टि करना चालू कर दिया हर प्रलय काल में सृष्टि सृष्टि काल में प्रलय उल्टा पुलटा क्यों नहीं किया एक काल के अधीन वो है काल से स्वतंत्र होते मर्जी थी उनकी जब चाहे तो सीनरी बदल दे नहीं लेकिन नहीं बेचारे वो भी कर नहीं सकती इधर कहा स्वतंत्र हुआ वो ईश्वर भी इधर ईश्वर स्वतंत्रता खत्म इच्छा मात्र मामला समाप्त है कैसे हुआ अरे काल से ही हुआ इसलिए काला भूताना प्रसूति मन देखे काला का इच्छा मात्र प्रभाव संकल्प क्योंकि प्रभु क्या है संकल्प है इसीलिए वो इच्छा मात्र सब कुछ उत्पन्न करता है सृष्टि घटा संकल्पना मात्र न संकल्पना अतिरिक्त इसलिए सृष्टि क्या है घटा रही है जो ये संकल्प मात्र रूपा है वास्तव संकल्प सत्र कुछ भी नहीं है काला देव सृष्टि अरे वो इच्छा भी क्यों करेगा एक और भी कारण है तो आपका पूर्ण कारण है इसे इच्छा क्यों करेगा फालतू का क्या जरूरत वो करने की और फिर तो हाथ तो काम नहीं है उसके अंदर इच्छा है तो हमारे जो भी हो गया बराबर जैसे हम भी इच्छा करें किस चीज की सृष्टि करने की वैसे जो भी किसी चीज की इच्छा कर दे रहा है फिर वो भी बराबर में आ गया फिर ईश्वर की ईश्वर तो खत्म हो जाएगा उसके आप तो कामत्व पूर्ण कामत्व ये जो कहते हो वो सारा बात ठप होगा इसलिए उसके आत्म कामत पूर्ण कामत सिद्धार्थ तो उसकी इच्छा मात्र सृष्टि में मानना उचित नहीं इसलिए काल से मानना उचित है कालादि सृष्टि रिधि के चित ऐसा कुछ लोगों का कहना है इच्छा मात्र प्रभो सृष्टि इत्यादि जो कहा था जो उन सब का खंडन करेंगे आगे उसके लिए कार्य का एक और मत को दिखा करके खंडन करें भोगार्थम सृष्टि क्रीडार्थम चा परे देवस्येष स्वभाव आप काम से का स्प्रहा कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई ईश्वर का भोग करने की इच्छा हुई विषय का आनंद लेने की इच्छा हुई इसलिए उन्होंने सृष्टि बना दिया और अन्यों ने कहा वो खेलना चाहते एकाकी न रमत अकेले उनको मजा नहीं आ रहा था कुछ उसने खिलौने बना लिए सृष्टि बना लिया इसी चाह पर कहते हैं कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता जो आप तो काम है जो आप तो क्रीड है उसके लिए न इच्छा हो सकती है न क्रीड़ा न भोग न कुछ इसलिए देव से स्वभाव यह उस ईश्वर का स्वभाव है कि वह सृष्टि कर देता है कर्तव्य उस पोस्ट को जो पाएगा वो अपना कर्तव्य करते रहे यदि आपको कोई का, काम दे दिया गया वो आप करते हुए आप उसको करेंगे आप चाहेंगे चाहे नहीं चाहेंगे करना तो पड़ेगा यदि मिलिट्री वालों को तो अनुभव हो जाते बात और चाहे ना चाहे जहाँ फेंक दे वहां जाना ही पड़ेगा तीन साल बार रगड़ना पड़ेगा ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना चाहे वो भेज दे लड़क भेज दे चाहे कारगिल भेज दे कहीं और भेज दे जाएगा ही वो क्यों नौकरी कर रहा मजबूरी है ये तो मेरे को अच्छा वहां नहीं लगता आप हमको जो है कांची में लगा दो या मसूरी में दे दो ड्यूटी हमें बढ़िया है <laughs> गर्मी नहीं लगती है, तो कोई गोली की खतरा है तो वहां ऐसे चलेगा नहीं क्यों उसका ड्यूटी है सेवा है कर्तव्य है उसी प्रेरित भगवान के कर्तव्य ईश्वर के कर्तव्य जब ईश्वर पद को लिया है तो उस पद के अनुसार कार्य करेगा इसलिए उसका स्वभाव में आ गया अब जैसे तो बुरा नहीं लगता है मिट्टी को बुरा लगेगा क्या हर दो साल तीन साल बाद सारे लेकर इधर से उधर भागते रहते मजा तो होना उसमें मजा आ रहा है पहली पहली बार तो थोड़ा खटपट लगता होगा लेकिन एक दो बार के बाद उनको उसी में आनंद आता है और कई तीन साल उनको ज्यादा बैठा दो जगह कहते क्या हो गया पता नहीं आज साहब जो हमको क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं ऐसी स्थिति हो जाती है यदि मालूम की जगह रख दिया जाए वो खुजरी होने लगता है उन्हें हम यहाँ से कब बाहर करेंगे कब यहाँ से निकालेंगे कहीं और ले जाना चाहिए ना हमारा टंग टंग चलना चाहिए चल नहीं रहा है बैठ कैसे गया है तो उसके स्वभाव बन जाता है कि बस वो गए भी ना वो रहेगा नहीं एक ऐसे बस का कंडक्टर था यहाँ से ऋषिकेश से उसकी ड्यूटी होती थी मीरठ साइड इधर उधर होता था हमेशा बस में जाना आना अब हालत ऐसा हो गया रिटायरमेंट होने के बाद घर बैठा रह जाए अब इतना देवता था कि हिसाब किताब इतना परफेक्ट उस आदमी का कि सब उसको बहुत मानते थे रिटायरमेंट के बाद ही वो जाता था तो कोई कुछ नहीं बोलते ना उसे टिकट पूछते थे कुछ अब तो अब तो कंडक्टर नहीं रहा हो लेकिन कंडक्टर का चोला पहनेगा और जाएगा जरूर और एक बार ऐसे हुआ गया और रास्ते में मर भी गया मुझे पार किया बस वो तो बस में ही हार्ट अटैक हो गया उसको ऐसा स्वभाव बन गया वो गए बिना रह नहीं सकता और ने क्या मना किया तो मारा नहीं गया वो भले रास्ते में मर गया बड़े सम्मान से लोगों ने उसको लाया बड़ा सम्मान से उसके जो है अंत्येष्टि किया सब कंडक्टर लोग ड्राइवर लोग पूरे डिपो के लोग सब इकट्ठा हुए बड़ी जुलूस निकाल के उसको ले गए उस ईमानदारी के कारण लेकिन कहने वाले व्यक्ति एक स्वभाव बन जाता है वो चीज अब उसको आप उसकी लीला समझो खेल समझो भोग समझो इच्छा समझो जो आप नाम दे दो आपकी मर्जी है लेकिन वास्तव में इनमें से कोई भी वास्तव में वहां नहीं उठता है वो उसके स्वभाव पर इसलिए कहते देव से स्वभाव है इसलिए न इच्छा मात्र जो पहले कहा और काल रूपी ईश्वर में मानना वो भी ठीक नहीं भोग के लिए क्रीड़ा के लिए अनेक विकल्प चित्र भी दिए गए थे सब का की बात से खंडन हो गया देव से स्वभाव क्यों क्योंकि आप काम से कहा जो काम है काम है आत्मक्रीड है पूर्ण गांव है उसके अंदर कहाँ से इच्छा होगी वहां से खेलेगा वो क्या करेगा ये सब प्रश्न ही नहीं उठता अतः जो उसके अंदर ये सब इच्छा आदि हो ही नहीं सकते अतः स्वभाव को आदमी आना ही पड़ेगा भाषिकार भोगार्थम क्रीडार्थम अन्य सृष्टि मनते कुछ लोग जो है भोगार्थ करके मानते हैं और कुछ अन्य लोग उसको क्रीडार्थ करके मानते हैं क्योंकि सृष्टि चाहे जैसे भी बन गया हो उसका प्रयोजन क्या है पहले तो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार बताया पहले जितने भी करते हैं वो इच्छा से पैदा करता है अमुक से पैदा हो जाता है कहा से पैदा होता है तक अंतिम तक उत्पत्ति को लेकर के था और ये जो दो बात है प्रयोजन को लेकर पन किया थे जैसे तैसे किया किया चलो मान लिया सृष्टि हो गई लेकिन क्यों किया क्या प्रयोजन है उसको बनाने का तब तो इसके लिए दो जवाब थी भोगार्थम क्रीड़ार्थम वाह प्रयोजन परक है ये उत्पत्ति परक नहीं अब तक जो कार्यकार थी वो उत्पत्ति पर चिंतन किया विभिन्न मत और ये जो सृष्टि चिंतक के थे एक काल चिंतक को लिया था सृष्टि चिंतकों को और काल चिंतक को लेकर के उत्पत्ति प्रकार का वर्णन हुआ और अब प्रयोजन को लेकर के इस कार्यक्रम में कहा गया अंतर थोड़ा ध्यान में रखना और उत्पत्ति और प्रयोजन सबका निषेध कर रही एक ही बात से देवशेष स्वभाव अनियो पक्ष और दूषणम देवशेष स्वभाव अयमिति इन दोनों ही पक्षों को दोष दे रहे हैं अरे उसका कोई प्रयोजन हो नहीं सकता क्योंकि जो है वो उसका स्वभाव मानना पड़ेगा कहा स्वभाव नामा टीका में देखो दूसरी पंक्ति स्वभाव किसे कहना चाह रहे हैं आप नैसर्ग को अपरोक्ष माया शब्दार्थ तस्या ईश्वर का जो माया शब्द बोध वस्तु है जो स्वाभाविक है वो जो नैसर्गिक है प्राकृतिक है और वो अपरोक्ष जो चीज है उसी को यहाँ स्वभाव सबसे कह दिया स्वस्य भाव नहीं स्वस्मिन भाव इत्यादि व्युत्पत्ति करने की चेष्टा नहीं करना इसलिए जान के बता दिया कि आप उत्पत्ति करके नहीं उल्टा पुल्टा उतना लगा ले है ना तो कह दिया भाई स्वभाव क्या चीज में पूछा तब जवाब मेरे नैसर्गिक अपरोक्ष माया शब्दार्थ तस्य ईश्वर से इत्या उस ईश्वर के जो विद्यमान माया शब्द का विषय होता तत्वता वस्तु जो नैसर्गिक है अनाथ अनाथ सिद्ध है नैसर्ग का मतलब क्या अनादि सिद्ध है वो और अपरोक्ष सर्वानुभव सिद्ध अनादि भी है और सर्व का सभी का प्रत्यक्ष के विषय होता माया शब्द बोध वस्तु उसी को यहाँ पर स्वभाव शब्द से कहना है देव से स्वभाव पक्ष आश्रित सर्वेश पक्षाणाम आप काम से अवकाश प्रयाय देव से स्वभाव पक्ष आश्रित सर्वेशा पक्षाणाम आत्म काम से अवकाश पी दो हेतु है या तो मान लो देव भग उस ईश्वर के स्वभाव पक्ष को लेकर के सभी मत का खंडन हो गया अथवा आद्य काम से कास्पृह इसी के आधार पर सबका खंडन हो गया प्रयोजन का भी हो सृष्टि का भी सबका एक ईश्वर उदासीन क्यों ईश्वर तो उदासीन है सकल मतों को लेकर दे रहा है देखिए टीका में अच्छा है इतनी थोड़ी टीका देख लीजिए देव से परमेश्वर से स्वभाव सृष्टि रीति स्वभाव पक्षम नैसर्गिक माया विनिर्मिता सृष्टि रीति मतम सिद्धांत पादे न दूषण उच्चते चतुष्पादेन मैं चौथा पद कौन है आत्मकाम से कास्ता वो चतुर्थपाद है ना नहीं लेना आत्मा का चतुर्थपाद तो प्रकरण हो जब आत्मा का चतुर्थपाद की भूमिका बांध रहे इसलिए चतुर्थपाद मतलब उसका नहीं कारिका का चौथा पाद पक्ष और अनिवार्य योजना योज्य ईश्वर से ईश्वर ख्यापरम सृष्टि एक पक्षा ईश्वर का ईश्वरत्व को प्रकट करता है ये सृष्टि सृष्टि न हो ईश्वर की स्थिति नहीं हो सकती ऐसा एक पक्ष था और स्वप्न स्वरूपा या माया स्वरूपा करके दूसरा पक्ष था ये दोनों के दोनों ईश्वर की सत्य संकल्पता के आधार पर सृष्टि को पक्षांतर अपनाया हुआ था और कालाज जब सृष्टि छोड़ा काल से जगत सृष्टि ईश्वर से हुई नहीं ईश्वर तो उदासीन है ये अन्य पक्ष थे तत्र विकल्पांतरम और से विकल्पांतर भोगार्थ गृणार्थ सृष्टि फलगतम च विकल्प आ गया ना इसमें फलगतम च विकल्प द्वयम तेषाम ये सर्वेशा पक्षा जो उत्पत्ति निमित्त पक्ष हो जो प्रयोजन निमित्त पक्ष हो वह यहाँ जितने भी पक्ष है सारे पक्षों को एक ही यहाँ मार से खत्म कर दे रहे हैं दूसरा चतुर्थ पाद उत्तम पक्षांतरम महा सर्वेशा व पक्षाणाम लो खलु आप्त काम से परस्य माया बिना विभूति ख्यापनम उपयुज्यते क्योंकि आप्त काम पुरुष जो परमात्मा है परस्यात्मनो माया के बिना और कोई रास्ता है ही नहीं उस ईश्वर की विभूति को प्रकाशित करने का एकमात्र माया है जिसके द्वारा सब कुछ प्रकाशित होना है ईश्वर का विभूति आप सबका प्रकाशन सृष्टि का प्रकाशन कोई जिसका प्रकाशन हो रहा है ये सब माया का ही खेल है तो इसलिए प्रश्न आएगा ना वो बात भगवान अपनी माया को देकर खुश हो जाएगा क्या कल आपने कहा था भगवान जो है अपनी माया को देकर खुश हुए खुश गए होंगे तो काम के अंदर न खुशी होनी है न हर्ष है न विषाद है आप तो काम पुरुष है ना उसे इच्छा नहीं राग नहीं द्वेष नहीं सुख नहीं दुख नहीं प्रसन्नता किस बात की ये माया के माध्यम से सब लीला है माया की विलक्षणता देखकर हाँ? माया की विलक्षणता देखकर हाँ। भगवान को आश्चर्य हो गया भगवान की माया को देखकर खुश कौन हुआ फिर मतलब भगवान रोए ना उसको हाँ। कारण है ना नहीं नहीं क्योंकि जो हो वो तो मुक्ति का बात तो स्वयं पहले उससे पहले भगवान बोल चुके हैं तुम मुक्त प्राप्ति हो गए क्योंकि कर्तव्य मुक्ति चाह रहा है कर्तव्य मुक्ति नहीं चाह ऐसे नहीं है उसे आपत्ति को थोड़ी मांगा वो तो पहले ही बोल दिया करदम महर्षि ने कि भाई ये तो आदेश है ब्रह्मा जी का मैं मजबूर हूं मैं पत्री मांग रहा हूं लेकिन मैं तो मुक्ति ही चाहता हूं इसलिए उस श्लोक से चार श्लोक पहले भगवान ने क्या कहा तुम आश्रम धर्म के अनुसार पहले गृहस्थ आश्रम पालन करोगे फिर संन्यास आश्रम भी धारण करोगे मेरे स्वर को प्राप्त करोगे कहने के बाद ये घटना की बात कर रहा है तो कहा से घटेगा वो बात आपकी नहीं घटती है <laughs> क्योंकि पूर्व में कह लिया मुक्ति हो रहा है तुम्हारा गारंटी है मुक्ति फिर ये भी तो नहीं हो रहा कि मैं दे सकता लेकिन तुम छोटे चीज मांग रहा है इसको लेकर के आश्चर्य होना है जो उसे स्वयं मुक्ति भी दे दिया फिर प्रसंग नहीं उठता है यही कारण सब माया है उस माया की लीला है संसार को कल्याण करना है किसी तरह से संसार का कल्याण की ओर मार्ग में लगाने के लिए सब लीलाएं होती रहती है उसमें न उसका हर्ष है न विशाल है न सुख है न दुख है न अभिमान है न निराभिमान है कोई लेन देन नहीं है नागत्य कसिचित पाप में सर भगवान सब जो गीता जी में सर ना कोई लेन देन कोई संबंध ही नहीं है निर्लिप्त है वो ये माया का खेल है इसलिए मांडव के परिषद में ये बात बार बार कहा जाता है ईश्वर तो कुछ कर ही नहीं रहा भगवान ने किया काम भगवान यदि करता तब तो कहा जाए उसने ऐसे किया उसने देखा उसने सुना ऐसा बोला ये माया मायावच्छिन्न होकर के सारा खेल इसने स्पष्ट लिखा है कि माया बिना विभूति ख्यापनम नो उपयुजते ऐसा अनु कर देना है न जो स्वप्न मायाभ्याम सारूप्य मंत्रेण स्वप्न माया सृष्टि इष्टम शक्य थे स्वप्न माया इनकी सादृश्यता को लिए बिना स्वप्न माया सृष्टि का कथन करना भी संभव नहीं है अवस्तु नो तब्द प्रयोग क्योंकि वे दोनों ही स्वप्न और माया दोनों कैसे हैं अवस्तु रूप ही है ये बात माया शब्द का प्रयोग करने से ही स्पष्ट हो जा रहा है तत्शब्द मैंने माया शब्द प्रयोग न जो परमानंद स्वभाव से परस्य बिना माया इच्छा संगत है परमाणु स्वभाव और उस परमात्मा के अंदर माया की इच्छा आदि का व्यवहार भी नहीं हो सकता नहीं तो उसे स्वतो अविक्रिय से इच्छा भक्तम युक्त स्वतः जो अविक्रिय है उसके इच्छा आदि से युक्त होना ये बिल्कुल ही संभव नहीं है न चाह माया मंत्रे न भोग क्रीड़े दशुपते देते माया के बिना उसका भोग क्रीड़ा भी उपन्न नहीं हो सकता मैंने कोई भी चीज माया के बिना वह कल्पना नहीं कर सकते आप कथन ही असंभव है भगवान वाचा ये जो कहा वो माया वच्छिन्न होकर के सब माया का खेल है ततो मायामयी भगवत सृष्टि रित्यर्थ इसलिए मानना पड़ेगा भगवान के ऊपर जो दिखाई देती हुई सृष्टि ये मायामयी सृष्टि है यदुक्तम काला प्रसिद्ध भूतान विधि तत्राहा उसका जवाब अगले वाक्य से बहिष्कार करें काला सृष्टि का नाम ठीक नहीं है क्यों नहीं रज्वादिराम अविद्या स्वाभाव्य वितरण सत्य कारण शक्यम वक्तम नहीं रज्वादिना अविद्या स्वभाव व्यतिरेक अविद्या स्वभाव से भिन्न रज्जु में सर्पोत्पत्ति में कुछ नहीं है सर्पादी का जो आभास है वो भी रज्जु के कारण से नहीं हुआ फिर कभी होता कभी नहीं होता इसलिए मानना पड़ेगा रज्जु देशावच्छिन जो अविद्यावच्छिन्न चैतन्य है उसी चैतन्य के अंदर विद्यमान व अविद्या रूपी आवरण की लीला आई कभी वह अविद्या रूपी आवरण भंग हो जाए तो रजू दिखाई देता है सर्प नहीं और अविद्या आवरण भंग नहीं हुआ तो रज दिखाई दे दिया सर्प दिखाई दिया अलग अलग चीज दिखाई दी अधिष्ठान अनुरूप क्योंकि अधिष्ठान के वह चाक चिक्की आदि गुण जो है रज्जु का जो है सर्पाकार था वो मुख्य है तो उतना ही भान हुआ आपको उसका विशेष स्वरूप भान नहीं हुआ नील पृष्ठ त्रिकोण ऐसे कहते हैं ना रजत स्थल में वो जो चमक आया उस चमक के साथ साथ अन्य चीजों का अवयवों का प्रकट होने से पूर्व में ही अविद्या ने खेल रच दिया इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि अविद्या स्वभाव व्यतिरिक रजवारी नाम सर्पादी आवासत्व कारणम वक्तुम न शक्यम अविद्या स्वभाव से तृप्त कोई और कारण ढूंढ के निकालने की चेष्टा सर्पादी आभास में तो आप कोई भी कारण कथन नहीं कर सकते वो निमित्त कारण है हजारों ऐसे कारण है तो ये कार्य के प्रति मुख्य उपादान कारण कौन है चर्चा है पर सृष्टि का उपादान कारण की चर्चा चल रहा है वो एक ही होगा ना जैसे घट के प्रतिवृत्ति जाए अलावा चक्र भी है दंड भी है कुड़ाल भी है हजारों निमित्त कारण है उनसे लोग लेन देने नहीं और उसने तो पचास तो अनिदासित तो कह दिया इसीलिए मुख्य दो तीन गिनते हैं भाई साहब को अनिदासित में कोटि में रख दिया गया है हो न हो तो भी चल जाता है जब अंधकार में आप कह देते हो ठीक है घोर अंधकार में भी हो सकता है मान लो घोर अंधकार है आप चल रहे थे कहीं दिखे को तो कुछ नहीं आपका पैर लग गया आपका पैर रस्सी से छू गया और रस्सी का जो निकला होता है ना वो चुभ गया आप चिल्ला नहीं सांप काट दिया तो घोर अंधकार में भी हो सकता है स्पर्श इंद्र के हो सकता है कोई जरूरी चक्षु के द्वारा हमें सांप को रच में सर्प दिखाई दे अन्य इंद्र में तो होगा ही नहीं क्या और वास्तविक सर्प काटने के बावजूद भी ये आपको लगेगा कि ये घास छुपा है तो मरेंगे भी नहीं ये घटना हुई है इसे कह रहा मध्य प्रदेश में है होता क्या है वो छप्पर पे डालते ना झोंपड़ी पे एक डाल दिया तो जब थोड़ा सड़ने लगता है फिर दूसरी बार दूसरा डाल दें उस पर तीसरा उस पर चौथा उसी पर पांचवा डाल जब बिल्कुल नीचे कीड़े पड़ के कट कट कट गिरने लग जाए तो सारे को हटा देते हैं ये वहां की पद्धति है तो हुआ कि एक बार एक डाला हुआ था दूसरा डाल रहा था आदमी डालते हुए दूसरा उसको बांधता नहीं करके मार गए खस के खेचते और बांधते हैं उस समय में वो सांप को भी उसने साथ में खस दिया बन दिया है वो घास के जो डाला हुआ था वो भी बैठा हुआ था पतला सा अब उसने मार दिया आओ सांप ने भी टस दिया फन खोल के खड़ा तो था नहीं दिखा तो है नहीं वो बंद गया हो फंसा हुआ था उसका बीच में और डसा तो उसने ये सोचा कि पाल का कोई घुस गया है कुछ नहीं ठीक है अपने काम करते करते चल दिया तो तीन चार साल बाद में जो उसे खोला वो सब हटाया तो हटाया तो साम मरा साम बहुत पड़ा सुखा सा तो उसके दिमाग में आया रोको उस समय जो लगा था वो इसी ने ही मारा था अब तक जहर कहा गया था तीन साल फैला नहीं शरीर में दिमाग में होते ही बात तो जहर फैल गया बस बेहोश हो गया हो शहर ले जाने से पहले मर गया मध्य प्रदेश की बात हवादर लोग कह सकते हैं कि भाई बिना मन का कहा खेल होता है बताओ इसलिए स्पष्ट है ना आप अभिमान करो उस चीज के साथ तो आपके साथ वो व्यवहार हो जाता है खून में बह करके प्रभावित होना चाहिए था तो जहर क्यों नहीं हो कि उसका दृढ़ निश्चय था ये सीख ने हमको चुबा है संभव नहीं और निश्चय ही उसको रोक दिया जैसे जोधपुर वाली माई कुछ साल पहले जो मर गई वो भी ऐसे ही है क्यों निश्चय था और जब पति मर गया वो भी चल पड़ी जो ससुर था उसने कहा एक ही मेरा बेटा था वो तो मर गया अब मैं भी क्यों जिंदा रहूंगा फिर तेरे साथ मैं भी चिता में मर जाऊंगा फिर तू चाहेगी तो तो सोचने में अब क्या करें मेरे चक्कर में अब ये भी मर जाएंगे तो अन्याय हो जाएगा एक तो पाप है विधवा तो हो ही गई और अब दूसरा ससुर को मरवा दे मरवा दूंगी मैं ठीक नहीं उसके मन में आया कि हमको लौटना चाहिए फिर उसने वहीं रोका रोक करके ससुर जी के चरण पर हाथ रखकर बोला एक शर्त है मेरा क्या कहते मैं अन्न जल नहीं खाऊंगी न खाऊंगी ना पीऊंगी कुछ जब विवाह किया था नियम कर लिया था बिना पति को खिला मैं नहीं खाऊंगी न पीऊंगी अब वो नहीं रहे आप से मैं जिंदा रहूंगी पुत्रवत तो आपके साथ में रहूंगी और अभी सारी सेवा करूंगी लेकिन मैं खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी इतना दृढ़ निश्चय कर लिया उसका भूख प्यास खत्म हो गया उस घटना के बाद चालीस साल जिंदी रही एक दो साल नहीं और कभी उसने एक बूंद पानी नहीं पिया अभी मरी हो छियानवे संतानवे हम लोग देखा उसको मंडलेश्वर जी के साथ हम लोग गए थे एक बार जोधपुर तो मंडलेश्वर जी भी गए दर्शन करने हम लोग भी गए ऐसे दिव्य देवी का दर्शन करनी चाहिए सब लोग गए थे असंतों की सेवा खाना पीना सब कुछ लेने के बैठी हुए चुपचाप सारा काम करती थी ससुर मरने के बाद में वो गांव से बाहर कुटिया बना लिया और वहां पर रहती थी और वहां जो भी संता है सबको भोजन सबरे खिलाना पिलाना उसके बाद बंद अपना जब तब करती रहते भागवत पढ़ती है कभी रामायण पढ़ रही है बताओ ये कैसे शक्ति है ये कहाँ से आ गया ये संकल्प शक्ति तो है इसलिए अपराध दृढ़ निश्चय पर सब कुछ निर्भर है और दृढ़ निश्चय होने में बोल नहीं दे रहा है अविद्या की मर्जी हो रही है यहाँ इसे कहते अविद्या व्यतिरेक न सरकारी आभासत्व कारण वक्तुम न शक्य चतुर्थ पाद क्रम प्राप्त वक्तव्य आप जो है चौथा पाद आत्मा का चौथा पाद हाँ जो क्रम प्राप्त है वो कहना चाहिए इत्यालांत प्रज्ञम इत्यादि नाम मंत्र की का सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्य शब्द अनभिधेयत्व विशेष नहीं तो तुरियम निर्दिदीक्षक निषेध ही निषेध इसमें तो विधि मुख से तो कहे अमुक ब्रह्म है देख लो क्यों नहीं बोल रहे ये जो अंत प्रकृता है जो बहिष् प्रकृता ये नहीं आत्मा ये नहीं आत्मा तुरी क्या है अमुक है ये नहीं बोल रहे सब कुछ निषेध मुख से ही कह रहे हैं आप क्यों उसी के जवाब में कह रहे हैं सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यता क्योंकि उस तुरु को बोध कराने के लिए कोई शब्द का प्रयोग हो नहीं सकता जितने भी शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है शब्द प्रवृत्ति निमित्त क्या है, है? कौन कौन है जाति क्रिया गुण द्रव्य नहीं जाति क्रिया गुण जाति से द्रव्य ग्रहण हो जाता है जाति क्रिया गुण संबंध यहाँ लेंगे जाति क्रिया अन्य यहाँ रूढ़ी शब्द से ले लेंगे द्रव्य तो रूढ़ी शब्द से भी आ जाए जैसे घटा शब्द है ये रूढ़ी तो स्वीकार हो जाएगा